और प्रतिष्ठित है और पुरुष उस हृदय के अंदर हृदय संविधाय अन्य प्रतिष्ठित हो पुरुष हृदय में रह करके अन्नमय शरीर में भी स्थित है हृदय रूपी गुफा में रह कर ही वो अन्नमय शरीर में प्रतिष्ठित है और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर में इस प्रकार से प्रतिष्ठित है कि वो सूक्ष्म शरीर को एक जगह से ले जाने वाला बन जाता है और वह कर्णमय शरीर वाला भी वही है मनोमय अर्थात स्थूल शरीराभिमानी सुख शरीराभिमानी कारण शरीराभिमानी कर्ण शरीराभिमानी सब वही आत्मा है तद विज्ञान इसीलिए उसका अनुभव हो जाने पर ही परिवश्य धीरा ये जो तत्व ज्ञानी धीरे पुरुष लोग है वो आनंद रूपम अमृत में दिवाती तत्परिपश्यंती ये जो आनंद रूप अमृत है जो उस अवस्था में प्रकाशित होता है उसी ब्रह्म तत्व के प्रकाश से प्रकाशित अपने स्वरूप को ही वे अनुभव कर लेते हैं यो असौ तमस प्रस्ताद संसार महोदय तीर्थवा गंतव्य पर विद्या विषय वह यह जो तमसा प्रस्ताद ये संसार रूपी जो महामोहात्मक मायात्मक विद्या है इससे जो पार है संसार महोदय तीर्थवा संसार में समुद्र को तार करके तर जाएगा वो और गंतव्य कौन सा परविद्या विषय भूत परविद्या विषय भूत जो गंतव्य है स यो असौ वह यह जो कस्मिन वर्त है वो कहा रहता है यह सर्व सर्वज्ञ सर्विद व्याख्या सर्वज्ञ और सर्विद दोनों शब्दों की व्याख्या पहले हो चुका है सामान्य ज्ञान वाला और विशेष विज्ञान वाला ब्रह्म पुनर्विशेषि उसी ब्रह्म का पुनर्विशेषण से विशेषित किया जा रहा है यश प्रसिद्ध महिमा विभूति कोसो महिमा यश प्रति शासन विद्रदय दृष्ट जिसकी जो यह प्रसिद्ध जो महिमा है विभूति है क्या है महिमा विभूति जो की दिवलो प्रतिलोक सबको धारण कर रखा हुआ है ये आपस में लड़ बैठते नहीं है, है क्या एक घर में दो भाई लड़ जाए भले इन जब कभी भी ये दो तारा नक्षत्र आपस में लड़ते ही नहीं बड़ा आश्चर्य है नहीं ये लाखों की संख्या में है और सब गतिशील है सबके सब गतिशील है और ऐसा नियत गति को लेकर चल रहे हैं आपस में एक दूसरे से टकराते ही नहीं है कहा वो तो गति है स्थान नहीं चेंज कर रहे हो उनकी गति है ये जहां पहाड़ से इधर आ गए तो स्थान परिवर्तन हो गया क्या है हाँ दिखाई दे मतलब घूम रहा है ना वो और आप आज देख रहे फिर पंद्रह दिन बाद देखो तो यहाँ से याद दिखाई देगा आपको यहाँ से वहां नहीं दिखाई तो छठी थोड़ी देर से उधर कूद गया वो गति से जाता है नियत गति है उसका उसी गति से चलते जाएगा तीसरा मेरा अपने स्थान परिवर्तन हो गया इसी हम संक्रमण करते एक राशि से दूसरे राशि में जाना संक्रांति होता है कि नहीं चंद्रमा भी तरह से एक राशि दूसरे राशि में जा रहा है और राशि वगैरह और कुछ नहीं है वो नक्षत्र समूह का एक विशेष आकार है उसका सन्निवेश विशेष है उनकी गति के कारण से इस प्रकार की चित्र बन जाए जैसे मछली जैसे दिखता है आकाश में सारे नक्षत्रों का आपस में रेखा खींच दो जो प्रमुख है सप्तशीर्ष नक्षत्रों का और उसके आसपास का और कुल सोलह है तो सारे को मिला करके आप चित्र बना देंगे ना वो मछली से दिखेगा तो मीन राशि मकर से मकर राशि कुंभ कुंभ राशि तो नक्षत्रों के जो रूप बन जाता है वहाँ अपनी गति से तो है तो ध्रुव भी तो घूमेगा साथ में हाँ दिखता तो एक ही जगह पर यही तो विलक्षण होता है क्योंकि हम भी घूम रहे हैं ना साथ साथ सारा ब्रह्मांड घूम रहा है उसके साथ वो पूरे ब्रह्मांड घूमता है बस ये कि उसकी गति और अन्य गतियों की अपेक्षा से वो स्थिर एक आ जाता है वो सापेक्ष ध्रुवत्व है ये पौराणिक कथाओं को सुनकर लोग समझते हैं रुदा हिलता डुलता ही नहीं वो इंच टिका रहा नहीं नहीं वो भी गति वाला है को वस्तु इस संसार में तो आत्मा है आत्मा के अलावा कोई दूसरा वस्तु है नहीं जो अग्रगति रहित हो सकता सब संसार का प्रत्येक वस्तु गति मान है इसमें कोई संशय नहीं है असापेक्षित आप कह लो बात अलग चीज है अरे हम ज्यादा चल फिर रहे हैं तो हमारे अपेक्षा बृहता रहे स्थिर है ज्यादा है या नहीं पृथ्वी को स्थिर कहा दे आप क्यों आप तो सौ साल मर गए और कि दादा मर गया परदादा मर गया सारे मर गए तभी इस तो इसी वैसी दिखाई दे रही है परंपरा सब सुनते आ रहे हैं वही मखा है ना वही दुकान वही सब व्यवहार कर रहे हो इसलिए आपको लगता है कि ये पृथ्वी स्थिर है नित्य है ये सब सापेक्ष व्यवहार है इस तरह से ध्रुव नक्षत्र में भी सापेक्ष व्यवहार है तो सातेश व्यवहार को लेकर कह ध्रुव नक्षत्र है ध्रुव तारा है मतलब पूरे ब्रह्मांड के अन्य समस्त गतिशील पदार्थों की अपेक्षा से उसकी गति बहुत निम्न है किसी ने कहा उसको ध्रुव है लेकिन ध्रुव तो एक आत्मा ही है वास्तविक ध्रुव तो पारमार्थिक जो है गत्यभाव जो चीज है वो आत्मा में और आत्मा में जो गति कहा जा रहा है अभी कहा सुख शरीर को नयन करने वाला है लेके जाएगा तो भी जाएगा ना साथ में तो वो गति जो है वो भी की व्यवहार है इसलिए आत्मा में जो भी गति का व्यवहार हो वो की है और स्वरूपतः वो निर्गतिक है गति रहित है इसे ध्रुवम एकमात्र आत्मा है और कोई चीज इसलिए जो नक्षत्र है ध्रुव नाम का वो भी गति वाला इच्छापेक्ष जो को कर दिया नित्य है कहते ना अजर अमर आदेवा उनको भी अजर अमर सब बोल दिया देवताओं के लिए इन दूसर तरफ साधन नहीं वो देवता भी उनकी भी आयु गणना कर दिया फिर अजर अमर फिर किस गाते गए जब अजर है अमर है फिर उनकी आयु कहां से हुई उसी प्रकार आदि नक्षत्र साहब प्रणय में कहा जाएंगे प्रणय में भी ध्रुव नक्षत्र रहेगा क्या महाप्रलय जब हो जाता है प्रकृति लय जब हो जाता है तो ये भी सब चला जाए फिर अगले कल्प फिर नक्षत्र होगा फिर उसे ध्रुव की स्थापना होगी ये ड्रामा हर कल्प में चलते रहेगा फिर कहीं भी जाओगे रामलीला देखे तो वही तो दिखेगा तो कुछ और हो जाता है अब बोलने वाले की आवाज में फर्क पड़ेगा करने वाले के एक्टिंग का फर्क ढंग में फर्क पड़ेगा लेकिन कहानी तो वही होगी राम सीता से शादी करेंगे कभी शूर्पनाखा कैसे नहीं करेंगे <laughs> कोई रामलीला में चले जाओ यही कहानी रहेगा वो कहानी तो यही होगी है ना वो लंबी होगी या छोटी होगी वो अलग बात है वो लीला की अपनी अपनी जो है ड्रामा करने वालों की अपने चैन पर है मोटी सीता भी हो सकती है कहीं एक्टिंग करती हुई कहीं दुबली सीता एक्टिंग करती हुई मिलेगी लेकिन जो है कहानी तो वही रहेगी उसी प्रकार ये सृष्टि की व्यवस्था तो वही होगी इसे कोई फर्क नहीं है अभी आपका चल लंबा चौड़ा हो रहा है अगले कल में हो सकता है तो बोले पद्य शरीर मिल जाए कोई भरोसा नहीं लेकिन वही होंगे यदि मुक्ति नहीं हुई तो कल कल्पांतरों से चले आए हुए हैं और कल कल्पांतरों तक चलते ही रहेंगे यदि हम अपने आप का स्वरूप अनुभूति नहीं करते हैं इसलिए हम सब औपाधिकी इसलिए कहते देखो औपारिक गति वाला होकर के वो जाता है इसे तम पर विशिष्ट यश प्रसिद्ध महिमा विभूति कोश महिमा यशी में देवृति शासन विद्रोहता जिसकी शासन में ये द्यू पृथ्वी आदि समस्त लोग धारण किए हुए स्थित हैं नहीं तो आपस से भिड़ जाए कौन इनको कंट्रोल करे कोई नियंत्रण करने वाला तो चाहिए ना जैसे घर में तो भाई लड़ जाते हैं कि नहीं लड़ जाते कंट्रोल करने वाले माँ बाप रहते हैं तो अलग कर देते हैं संभाल लेते हैं स्कूल वगैरह में भी ऐसे ही होता है सड़क पे भी लड़ जाते दो चार इकट्ठे हो जाते हैं दूर करने वाले अरे भाई अलग हो जाओ अलग हो जाओ पकड़ करके कर दे कि नहीं करते कोई ना कोई तो होता है जो आपके ऊपर शासन करेगा बरातर अलग भी कर देगा खेच के अलग कर कहीं भी हो लेकिन यहाँ वहां में अंदर है वहां शासन में निरंतरता है ये बेचारे उपाधि ना सोपाधि शासन क्या करेगा अब ये माता पिता शासन कर रहे हैं अब कब तक करेंगे चौबीस घंटा तो वो देखते तो बैठे नहीं रहेंगे तो भाई लड़ जाते हैं जब लड़ाई होने लगी तब आते हैं लड़ाई को पहले से क्यों नहीं रोक पाए क्योंकि वो अंतर्यामी नहीं है विपरीक्षण स्वभाव वाले हैं स्वपाधिक हैं इसे लड़ाई होने से पहले उनका शासन लागू नहीं हो पाया और यह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है सर्वांतर्यामी है इसे सभी को भीतर रहकर सभी का नियमन करने वाला है इसी को ध्यान यज्ञवल्क ने सबके भीतर है लेकिन कोई उसे नहीं जानता है वह सबको जानता है सबका नियमन कर रहा है इसे उसी के शासन जो भीतर से हो रहा है उस शासन को स्वीकार करते हुए ये सब उत्कृष्ट चेतन वाले आपस में कभी लड़ते नहीं है लोग भले कहें ग्रह तारा नक्षत्र जड़ है लेकिन वास्तव उनके जैसे उत्कृष्ट चेतनवान पदार्थ कोई नहीं है संसार में हम लोग अपने आप का अभिमान भले कर ले बड़े बुद्धिमान है ज्ञानी है अमुक है दमुक अरे फिर लड़ते बिड़ते क्यों हो तुमसे तो अच्छे वो है जब लड़ रहे ना बैठ रहे ना कुछ भी नहीं आराम से अपने अपने काम करने में लगे हुए हैं अपना दिन रात चल रहे हैं अपना क्रियाकलाप कर रहे हैं कोई अभिमान नहीं है और आप लोग थोड़े क्रियाकलाप के नहीं अभिमान हो जाता और उसमें लड़ाई चालू कर देते तो कौन उत्कृष्ट हुआ ये ग्रह नक्षत्र तारा तो है उनके अभिमानी देवता लोग वो उत्कृष्ट हुए और वे उस परमात्मा के शासन को निरंतर भीतर से स्वीकार करते हुए निरंतर कार्य संपादन कर रहे हैं कहीं भी उनके राग द्वेष अभिमान नाम का चीज नहीं है और हम लोग अंदर से भगवान के शासन स्वीकार करते ही नहीं भले हम लोग ज्यादा पूजा पाठ करने वाले बन रहे हैं है कि नहीं पूजा पाठ करने वाले हम लोग बने हुए हैं लेकिन वास्तव में हम लोग कोई भगवान को मानते नहीं है सच्चाई से देखा जाए हृदय से अपने आप विचार करके देखिए आप लोगों को भगवान का भय है भगवान के अनुशासन को भीतर जो भगवान बैठे हैं और जो उन्होंने वेद रूपी अनुशासन हमें दिया है उस अनुशासन को मान रहे हैं क्या कितने हद तक हम मान रहे हैं अपने आप चिंतन करके देखोगे तो आपको बहुत बड़ा जीरो मार्क्स मिलेगा कहीं भी नहीं है हम लोग माइनस मार्क्स मिलेगा बल्कि है ना तो भय है का यदि भय होता तो समय पर उठते समय पर संध्या करते पूजा पाठ करते समय समय पर सारा काम ढंग से करते राग होता न द्वेष होता न अभिमान होता बड़ा प्रेम भाव से सबसे हिल मिल गुल जुल करके काम चलाते रहते तो यहाँ पर होता ही नहीं इसका मतलब भीतर में रहने वाला उसका अनुशासन को हम स्वीकार कर नहीं रहे अर्थात उसको ही स्वीकार कर रहे हैं तभी उसका अनुशासन भी हम स्वीकार नहीं इसलिए भगवान का गया आज बक्का रहे देखो भाष्यका स्पष्ट ही कि उसी के सूर्य चंद्रमसो यस्य शासन है अलात चक्रवत अजस्रम था जिस परमात्मा परमात्मा की शासन में ये सूर्य चंद्रमा आदि सगल वस्तु अलात चक्रवत अलात चक्र के समान निरंतर अजस्रम भ्रमदा निरंतर भ्रमण कर रहे कोई एक क्षण के लिए छुट्टी नहीं मांगते यहाँ देखी जाती कब अष्टमी आ जाए कब छुट्टी मिले और वहां पर जो है अष्टमी में ही प्रतिपदा नहीं कोई छुट्टी नहीं चलता निरंतर उनकी गाड़ी चल रही है अजस्रम रमद अलात चक्रवत अलात चक्र खूब देख चुके हो ये जो रोड रोड के किनारे में वो नाचते नहीं है रस्सी उसी बांध के ऊपर चलते हैं बांस पकड़ के नाटक करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं आप लोग को देखा है सर्कस में भी देखे होंगे एक गोला कपड़े का बांध देते किनारे में लोहे के चक्र में और उसमें आग लगा देते हैं उसकी तरह तेजी से घुमाते हैं आपको लगता है आग का चक्र है और उसके बीच में सिंह कूद जा रहा है बाघ निकल जा रहा है आदमी चला जा रहा है और किसको आग लगती है नहीं है नहीं पूरे में वो होता तब तो ने जला है वो इतना तेजी से हवा से चलते रहता है और इतना तेज दौड़ा चुके हैं उसके सारे लहर बाहर की ओर ही होते हैं भीतर की ओर होता ही नहीं गर्मी बाहर की ओर उड़ते रहेगा ना युग जब घुमाओगे तो कहा जाएगा उसका हवा के कारण से और उसकी गति के कारण से उसके लहर बाहर की ओर होता है भीतर कुछ नहीं होता एकदम भीतर में आराम से जो है आ रहा है जा रहा है कुछ नहीं होगा यानी यहाँ तात्पर्य है वो छोटा सा एक अग्नि का गोला निरंतर जब भ्रमण करता है तभी तो आपको एक अग्नि का चक्र के समान दिखाई देगा वह किंचित अभी कहीं भी रुक गया तो अग्नि चक्र दिखेगा नहीं दिखता उसी प्रकार से निरंतर सूर्य भ्रमण न करें तो किस दिन सवेरे पांच बजे सूर्योदय हो जाए तो बारह बजे ध्यान को हो जाए सूर्योदय फिर अरे चौपट हो जाएगा नहीं ये कहीं भी नहीं रुकते क्षण भर के लिए भी नहीं रुकते इसे कहते देखो अलाद चक्र के समान निरंतर भ्रमण करता हुआ रहते ये शासन शरीर से नाद क्रामी जिसके शासन में ये नदी समुद्र आदि भी अपने अपने विषय अपने अपने मर्यादाओं को अतिक्रमण कभी नहीं करते निरंतर बह रहे हैं बहती ही जा रहे हैं और अभी तक कितने वर्षों से पता नहीं और आगे कितने वर्षों तक बहते रहेंगे पता नहीं उस परमात्मा के अनुशासन के अनुरूप चलते ही रहेंगे कोई इन्हें रोक नहीं सकेगा जबरदस्ती रोकोगे भूकंप हो जाएगा और तुम्हारा बांध ही टूट के निकल जाएगा स्वाहा क्या करोगे तो परमात्मा के शासन के खिलाफ आप चल नहीं सकते जो भी हो रहा है वो उसी की कृपा से हो रहा है होने हो दे रहा है उत्तर काशी में से एक बिजली घर बनाए मनेरी के पास उसका डैम बनाया मनेरी से जल को लाते सुरंग बना करके वहां गिराते बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वहां बिजली बन नहीं पाई जब भी बिजली पानी छोड़े पानी में ऐसा कण है चमकदार चीज और जो हार है वो जैसे उस वेग से आता था ना ऊपर से पाइप से छोड़ते थे बड़े तेज वो घुमाने के लिए उसको टर्बाइन को उसके बाल्टियां जैसे होते हैं बड़े बड़े जब धड़ से पानी गिरता है तो दौड़ता है वो टुकड़े हो जाते थे कई बदलाव ने कई ऐसी कठोर चीजें बना डाला वज्र के सामान वो भी टिकता है वो भी टुकड़े समझ में नहीं आते सब वैज्ञानिक बड़े बड़े इंजीनियर साइंटिस्ट हार गए कैसे बने क्या हो इतने अरबों रुपया खर्च हुआ बिजली घर स्थापित हुई सब कुछ हो गया इन कोई लाभ नहीं फिर अंत में एक वहां पर डॉक्टर शिव कुमार अच्छे हनुमान जी के भगत उसको एक दिन अचानक उसके भी मन में चिंता हुई तो वो भी समाज सेवी भी है बहुत अच्छा संत जैसे रहता है बेचारा बहुत अच्छा आदमी है उसके मन में आते रहा कि बार बार बात क्या है समझ में कोई तंत्र मंत्र सब कोई बकरा काटा ये काटा वो काटा जो पहाड़ियों के सिस्टम है सब करके देख लिया कुछ नहीं हुआ तब वो बहुत ही चिंतन में रहा तो एक दिन भगवान की कृपा से उसको दिखाई दिया एक शिवलिंग एक शिवलिंग दिखाई दिया और शिवलिंग आप देखें बड़ा विलक्षण है उसके तीन तरफ धार पीछे अपने आप बना हुआ है जो प्रतीक से बता रहा था तुमने मेरी धार को रोकने की कोशिश किया है इसलिए हम इसको होने नहीं देंगे उसके बाद क्या हुआ कि उस शिवलिंग को ले जाकर के मनेरी डैम जहाँ बनी है उसके बगल बहुत बड़ा शिव मंदिर फर्स्ट क्लास बना गया वहां पर रामेश्वर नाम से इस राम ने इधर से उधर जाने के लिए सेतु बना वैसे हमने यहाँ बांधा है इस चीज को वास्तव में गंगा को रोकने की चेष्टा नहीं की है इस भावना से जो स्थापना किया गया उसका बिजली बनना चालू हो गया क्या बड़ा आश्चर्य घटना कि आप बांध भी लो सब कुछ कर लो लेकिन परमात्मा नहीं चाहेगा तो काम होगा नहीं जब रामेश्वर भगवान की स्थापना हुई धारा को मुख्य धारा को तो बंद नहीं किया गया इसलिए आज तक भी मुख्य धारा लगातार चलता है वह धारा को खोल दिया एक गेट परमानेंट खुला रहता है सब गेट को बंद नहीं करती मुख्य धारा निरंतर चल भी रहा है उधर जितना पानी इकट्ठा हो पाता है थोड़ा बहुत वहां से जाता है फिर उसके बाद वहां इकट्ठा करते हैं इकट्ठा करके वहां से जब गिराते तब तो बिजली होती क्यों बिना उस परमात्मा इसलिए कहते कि जो कुछ भी है ना नदियां है या समुद्र अपनी मर्यादा का लांग नहीं रहा है जो कुछ भी आप प्राकृतिक क्रियाकलापों को देख रहे हैं वे सब उस परमात्मा के अनुशासन से ही चलता है और जो कुछ मर्यादा को लांग है वो तो मनुष्यों में देखने को मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा मर्यादा को लांग कर चलना कोई पशु भी मर्यादा को लांग नहीं चल रहे हैं वे भी अपने मर्यादा के अनुरूप चलते चाहे गली का कुत्ता ले लो और उसके ऋतु जिस ऋतु में उनको संबंध आदि करने को कहा गया है एक अनुशासन है परमात्मा का उन्हीं ऋतुओं में वो संबंध करते हैं चाहे सुअर हो चाहे कोई भी जानवर देख लीजिएगा आप अपने मर्जी से कुछ करना चाहे तो नहीं होएगा लेकिन मनुष्य अकेला है जो इतना गया पिता घटिया आदमी जो अनुशासन को भंग करके सकल मर्यादाओं को उल्लंघन करके अपने आप को नरक की ओर ले जा रहा है और फिर भी अपने आप को मानता है हम सबसे श्रेष्ठ हैं है कि नहीं हम संस्कारित हैं हम विद्वान हैं ज्ञानी हैं बुद्धिमान हैं ऐसे ये मानता है लेकिन वास्तविकता बता रहे हैं देखो कि तथा सावरंग जंगमम जो यश शासन इसलिए कहते जो स्थावर हो जो जंगम हो सभी के सभी जिसके शासन में नियत है उसकी महिमा का क्या वर्णन कर सकते हैं आप तथा च ऋतवो अयन अब्दाश्च इसे ऋतु अयन संवत्सर यश शासन नाथ क्रामंती जिसके शासन का अतिक्रमण नहीं करते हैं उसकी महिमा है तथा कर्तार कर्माणि फलंच छात्रा संसंकारम नातिवर्तन है जो कर्ता लोग हैं वे अपने अपने कर्मों को उस शासन की वजह से अपने अपने काल का अतिक्रमण नहीं करते हैं और कर्म फल भी आपको अपने अपने उचित समय पर मिल जाता है उसका व्यतिक्रम कभी नहीं होता सही महिमा भूवी लोगे वही समझो इस लोक में उस परमात्मा की महिमा है यश सर्वज्ञ एवं महिमा देव यश जिसका ऐसा है वह यह सर्वज्ञ उस परमात्मा की यह देव का ही यह महिमा है समझो दिव्य द्योतरवती सर्वबौद्ध प्रत्यकृत द्योतरे ब्रह्मपुरे दिव्य द्योतनवती द्योतनवती प्रकाशवान में सर्वबोध प्रत्यकृत द्योतनी ब्रह्मपुरी सकल ज्ञानों का भी प्रकाशन करता हुआ साक्षी रूपेण विद्यमान इस ब्रह्म ब्रह्म एवं पुरमिधि ब्रह्मपुरम उस हार आकाश विद्यमान परमात्मा है ब्रह्मणोत्र चेतन स्वरूप नित्य अभिव्यक्त क्योंकि ब्रह्म वहीं पर नित्य चेतन स्वरूप से हम सबको अभिव्यक्त कर में आते हैं ब्रह्म पुरम हृदय पुंडरीकम तो ब्रह्म पुर कौन सा है ये जो हृदय कमल है यही है तस्मिन यद व्योम तस्मिन व्योमी उसमें जो व्योम है अर्थात आकाश हृदयावचन जो आकाश है हृत कुंडरी का मध्यस्थ प्रतिष्ठिता इव उपलब्ध प्रतिष्ठित के समान अनुभव में आता है वास्तव प्रतिष्ठित नहीं हो तो सर्वत्र है जो सर्वत्र व्यापक है जिसमें सारा कल्पित है वो एक जगह बैठा है क्या कहना उचित तो नहीं बनता लेकिन उपाधि को अनुभूति के आधार पर कह दिया इव उपलब्ध है नहीं आकाश और सर्वगत से गति रागति प्रतिष्ठा मान्यता था आगे ना आपके बात क्योंकि आकाश के समान जो सर्वगत आत्मा है उसकी गति या आगति नहीं हो सकती इधर गत्य आगति सबसे रहित वस्तु एकमात्र आत्मा है उससे भिन्न सबल वस्तु गत्यागति वाले ही होते हैं अतः ध्रुव नक्षत्र भी गति आगति वाला है सही आत्मा तत्र मनोवृत्ति में रेव विभाग है इसलिए वह जो आत्मा है तत्रस्ता मन हृदय रूपी आगा जो चिन्ह और विशिष्ट भावना अनुभव में आते हुए मनोवृत्ति रेव विभाग थे हमारे मन के वृत्तियों के द्वारा ही हमें वह भाषित होता है इति मनोमय इसलिए वह आत्मा मनोमय कहा जाएगा मनोपाधित्वाद मन रूपी प्रभाति वाला होने से प्राण शरीर नेता प्राणश्च शरीर प्राण शरीर तस्म नेता स्थूलात शरीरा शरीरांतरम प्रति एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर की ओर ले जाने वाला प्राण प्रधान बता जो शरीर है वह सुख शरीर को ले जाने वाला भी वही आत्मा है प्रतिष्ठितो अवस्थितो अन्य भुज्यमान विपरिणाम खाए पिए गए अन्य विपरिणाम रूपेण जो होता है ये शरीर इस स्थूल शरीर में भी वही आपका प्रस्तुत होकर जागृत काल में व्यवहार को करता है प्रतिदिनम उपचीयम माने अपचीयम माने च पिंड रूपाने हृदय बुद्धि पुनरिक छिद्रे सन्निधाय समाप्य प्रतिदिन बढ़ता घटता हुआ पिंड रूपा इस अन्नमय शरीर में हृदय रूपी गुफा जैसे बुद्धि नाम का तत्व है उस पुंडरीक छिद्र तारस हृदय कमलात्मक चित्र में बुद्धि रूपी जो है दर्पण में प्रतिबिंबित होता हुआ सन्निधाय समाप्य समवस्थित होकर के अनुभव में आता है हृदय अवस्थान में ही आत्मस्थिति हृदय में उसके अवस्थान को ना या आत्मा की स्थिति कर दिया गया है नहीं आत्मा स्थिति अन्य क्योंकि अन्य में वास्तव में आत्मा की स्थिति नहीं मानी जा सकती है अन्न का तात्पर्य इसलिए स्थूल शरीर उस स्थूल शरीर के भीतर हृदय रूपी घोसला उस घोसले के भीतर वो आत्मा का अनुभव साक्षी रूपेण विद्यमान है तय आत्म तत्म तत्व विज्ञान उस आत्म तत्व का विज्ञान से शास्त्र आचार्योपदेश जनित ज्ञान आत्म तत्व का ज्ञान कैसा होना चाहिए अपने आप पढ़ लिख करके रट्टू बन करके नहीं होना कभी शास्त्र और आचार्य के उपदेश चलित ज्ञान के द्वारा सम दम ध्यान सर्व त्याग वैराग्य उद्भूत परिपश्यंते ज्ञान तब कैसे उत्पन्न हो ज्ञान तो सबको पैदा हो जाता है बुद्धि से आपको ब्रह्म ज्ञान तो ग्रहण कर ले रहे हो इसमें कोई संशय है ही नहीं इन्हें सब केवल परोक्ष ज्ञान ही बना रहेगा तब तक जब तक आप सम दम ध्यान सर्व त्यागात्मक वैराग्य से उद्भूत नहीं होते हैं तब तक यह ज्ञान केवल क्योंकि सम रहित ज्ञान है दम रहित ज्ञान है ध्यान रहित ज्ञान है वैराग्य रहित ज्ञान है यह तो परोक्ष ज्ञान ही होगा शब्द अर्थ प्रधान ज्ञान रहेगा केवल एक ज्ञान को लेकर मुक्ति नहीं होगा लेकिन जब इसके माध्यम से उद्भूत जो ज्ञान होगा शम दम ध्यान सरत्याग वैराग्य से उद्भूत जो ज्ञान है वह ज्ञान वाला पुरुष को उस ज्ञान के द्वारा परिपश्यंती सर्वदा पूर्ण पश्यंती चार और उस पूर्ण ब्रह्म को उपलब्ध अनुभव करते हैं और धीरा विवेकिन विवेकी लोग उसका अनुभव करते हैं आनंद रूपम सर्वानंद दुखाया प्रहीणम अमृतम यदि विशेषण ये भाति सर्वदा जो आनंद रूप है समस्त अनर्थ रूपा दुख आयास से रहित है वह अमृत जो भाषित होता है विशेष रूपेण अपने स्वरूप में ही अपने प्रतिगात्मा में ही जब भाषित होता है अनुभव होता है सदा वह आनंद रूप को वह विवेकी अनुभव कर लेता है अवश्य परमात्मा ज्ञान से फलम इधम अभिजीयता है इस ब्रह्म ज्ञान का फल आप कथन करने जा रहे हैं विद्यते हृदय ग्रंथि दे सर्व संशया दे चास्य कर्माणी तस्मिन दृष्टे परावरे तस्वीन दृष्टे परावरे परावरे जो कारण रूप से पर है और कार्य रूप से अवर है उस परावर ब्रह्म तत्व का जो साक्षात्कार कर लेता है उस साक्षात्कार का हो जाने पर इस जीव के हृदय में जितने भी ग्रंथियां हैं आत्मनात्म ध्यास रूपी जो ग्रंथि वह नष्ट हो जाता है जब आध्यासिक ग्रंथि नष्ट हो गया तो उस अध्यास के कारण से विद्यमान विभिन्न प्रकार के संशय तो सब संशय भी अपने आप नष्ट हो जाएंगे छिद्यंते सर्व संशया क्षीयते कर्माणी अस्य इस जीव के समझ जो कर्म है ही कारणीभूत कर्म वह भी खत्म हो जाएंगे नष्ट हो जाते हैं लेकिन अस्य सर्वाणी कर्माणी तो मान लो तो भी प्रारंभ से भिन्न सभी कर्म को ही समझना संचित और क्रियमाण कर्म ही नष्ट होते हैं प्रारंभ तो कर्म नष्ट नहीं होता उसके वजह से बाधा सामराधिकरण निवृत्ति को लेकर के जीव जीवन मुक्त होकर के जो अब तक केवल जीव था वह जीवन मुक्त स्वरूप को होकर के उसका शरीर चलते रहेगा विद्यते हृदय ग्रंथ ही अविद्या वासना प्रचो महा काम विद्यते हृदय ग्रंथ हृदय ग्रंथ क्या है अविद्या और तन वासना प्रचय कहा है बुद्धि में आश्रित रहने वाली सकल कामनाएं कामाय विश्रदा इस प्रकार से अन्यत्र कहा गया मृदंडक में यदि श्रुत्यंतरा हृदयाश्रय वासो न आत्माश्रय ये काम वासना ये कहा है हृदय में ही आश्रित होते हैं आत्मा में नहीं क्योंकि नया एक लोग काम इच्छा बोलिए ना इच्छा का पर काम प्राप्त कर दिया और उसको किसका गुण मानते हैं आत्मा का गुण आत्मा में आश्रित मानते हैं उसका निषेध करते हुए भाष्यकार ने कहा हृदय आश्रय सो न आत्मा आश्रय विद्यते भेदम विनाशम आयाति विद्यते मतलब टुकड़े हो जाएंगे का तात्पर्य नाश ही हो जाएगा छिद्यंत सर्वज्ञ विषया संशय लौकिका नाम आवरणात्म तो गंगा स्रोतवत् प्रवृत्ता विच्छेदम मायांति सर्वे ज्ञे विषय संशया क्योंकि जो है ज्ञे विषय की जो ज्ञे विषय प्रमाण विषय जो है श्रवणादि के द्वारा जिसका उच्छेद नहीं हो पाया था केवल साधारण श्रवणादि से और वही श्रवण इतिहासन की परिपक्व स्थिति में उच्छिन्न हो जाता है नष्ट हो जाता है हाँ। बात है कि बंधन का मूल कारण है उसका नाम ग्रंथ गंगा स्रोत प्रवृत्ता लौकिका नाम तो आमरत्व गंगा स्रोत प्रवृत्ता लौकिकों के प्रति अज्ञानियों के प्रति तो कहना ही क्या है मरण पर्यंत गंगा स्रोत के समान निरंतर संशय प्रवृत्त होते रहता है विभिन्न प्रकार का संशय वेदांत पढ़े हैं और पढ़ाते भी रहने वाले लोगों को देखा